ॐ प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराजवीर्मयेति वेगस्य माणि स्तः श्रुतम् मे सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु सर्वदा ऋग्वेदीय उपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था मंत्र था आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशीत नान्य किंचन निषद सही क्षत लोकान स्थित ऐसा मंत्र है उसमें से अभी आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशीत नान्य किंचन निषद यहां तक का अर्थ हो गया तो बाकी बचा हुआ है मंत्र शेष भाग है स लोकान सृजय ये शेष भाग है उसका अर्थ करना है बाकी है उसके लिए आगे टीका में जाते हैं एवं सूत्रितम आत्मनो अखंड एक रसत्व संक्षेप में आत्मा की अखंड एक रस्ता बताई एकम एव नान्य किंचन विषय तीन पद के द्वारा सृष्टि के पूर्व में आत्मा ही था ये जगत अभी जो दिख रहा है जगत नहीं आत्मरूपी था वो एक ही था मैंने दूसरे व्यक्ति नहीं था आत्मा जैसा दूसरा नहीं था और एक वैसे स्वगत भेद भी नहीं सावय भी नहीं था वो निर्वयव था तो सावय होने पर परिणामी उपादान बनने की संभावना है किंतु तो निर्वय में परिणाम होता नहीं निर्वय वस्तु बिगड़ करके कुछ बनता नहीं आकाश बिगड़ के कुछ नहीं बनता दूध बिगड़ के दही बनता तो इसलिए ये वकार लगा के निर्वय था बोला निर्वय था और अन्य विजातीय वस्तु भी देखे नान्य किंचन विषद पद के द्वारा निषिद्ध किया है यही कह रहे हैं एवं सूत्रितम आत्मनो अखंड वो जो तीन पद लगा करके एकम एव नान्य किंचन विषद तीन के द्वारा जो संक्षेप में कहा गया आत्मा का जो अखंड एक रस है माने केवल अद्वितीय आत्मा ही था ये अर्थ आ रहा है उसको साधन तो उसी को सिद्ध करना है उसकी सिद्धि करने के लिए उपक्षिप्तम प्रपंच प्रपंच को इदम शब्द से उपेक्षित आरोप किया हुआ रखा माने ये प्रपंच में तात्पर्य प्रपंच मतदान में तात्पर्य नहीं है आत्मा अवैव रहित विजातीय सजातीय भेद रहित एक ही आत्मा था वही आत्मा है वही आत्मा रहेगा ये सिद्ध करना यहां सिद्ध है इसके लिए प्रपंच का आरोप किया उपक्षिप्त है प्रपंच उपक्षिप्तम प्रपंच से मृषात्म प्रपंच के वृषात्म का उपक्षेप किया था अरे एकम एवं नान्य नित्य मिश्र पद के द्वारा प्रपंच वास्तव में नहीं है झूठा है ये सिद्ध किया तद अध्यारोप अपराधाभ्याम दृढ़ी कर तुम अध्याय शेष अब आगे जो अध्याय बचा हुआ है हाँ, तो किसके लिए यह तीन अध्याय चलना है ऐतरोपनिषद में ऐतरे आरण्य के हिसाब से आरण्य का चतुर्थ पंचम ष्ठ तीन अध्याय है तो ये मंत्र का प्रथम मंत्र का भी पूरा अर्थ अभी हुआ नहीं है बाकी जितने शेष है तीन अध्याय आने वाला इसी मंत्र का शेष है ये किसके लिए उसी जो प्रपंच को दिखाने के लिए मिथ्या घोषित करने के लिए अध्यारोप अपवाद न्याय लगाएंगे युक्ति यहाँ आगे प्रपंच की उत्पत्ति दिखाएंगे फिर प्रपंच का लय दिखाएंगे आत्मा प्रपंच से मृषात्म तद वो जो मृषात्व को दिखाना है तद अध्यारोप अपवादाभ्याम दृढ़ी करता उसी को अध्यारोप अपवाद न्याय युक्ति से दृढ़ी कर दृढ़ करने के लिए अध्याय शेष आगे बाकी जो भी है इसी बात को दृढ़ करने के लिए एक ही आत्मा ही था जगत नहीं ये सिद्ध करना है इसलिए जगत का पहले आरोप करके दिखाएंगे फिर बाद में निषेध करेंगे अध्यारोप उपाधि युक्ति लगा के पूरे अध्याय ये काम करेगा ये काम तथ चार की टिप्पणी भी कहते हैं तस्य प्रपंच तस् अध्यारोप तद अध्यारोप वह ष्ठी समाज कर देगा कुछ प्रपंच का अध्यारोपवाद के द्वारा दृढ़ीकरण है आत्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहे एक ही आत्मा पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा इस सिद्ध करना इसका तात्पर्य होता है कहा अध्याय बाकी सब यही प्रपंच का अध्यारोप और अनुवाद करेगा तथा अध्यारोपार्थम सजातो भूतानी इत्यतः प्रार्थना तद आदि अपवादार्थ उसमें भी अध्याय शेष जितने भी बचे हैं तीन अध्याय हैं उनमें भी आगे सजा तो भूतानी अप्यक्षत इत्यादि मंत्र आएगा इसी प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के त्रयोदश मंत्र वो आएगा तो माने द्वादश मंत्र तक इस प्रथम अध्याय के तृतीय प्रथम अध्याय तृतीय खंड का द्वादश मंत्र तक ये अध्यारोप होगा आरोप तो सृष्टि आदि के प्रपंच बताएंगे उसे जल से पुरुष निकाला ये निकाला वो निकाला पहले चार लोग की सृष्टि की इत्यादि सृष्टि की चर्चा करेंगे उसके पहले अध्यारोप के लिए सजा तो भूतानी इत्यतः प्राक सजा तो भूतानी तो अपवाद में चला जाएगा उसके पहले वाले हो जाएंगे अध्यारोप के लिए तद आदि तद से लेना सजा तो ये उसको आदि में लेना शुरू में लेना सजा तो इत्य भूतानी इत्य यहां से आगे जो होगा अपवाद के लिए होगा माने ऐतर उपनिषद का पूरे तात्पर्य यही है ये बता रहे प्राप्त पांच की टिप्पणी में कहा अध्याय भाग उसके पूर्व के जो अध्याय भाग है सजा को भूतानी अपेक्षक इत्यादि मंत्र आना है तो उसके पहले वाले जितने में आएंगे वो अध्यारोप के लिए सृष्टि आदि वाक्य आएगा इसमें और उसके आगे ये परमात्मा वाचक आत्मवाचक शब्द आ जाएंगे उसने अपने को ब्रह्म तत्व अपश्यत इत्यादि वाक्य आ जाएगा तो अपवाद में आ जाएगा एक आगे बोलते हैं तत्रापि वाचारमण न्याय न आत्मातिरिक्त विकारत्व निषात्व वक्तुम सृष्टाचर ये जो पूर्व में जो अध्याय भाग है अध्यारोप करने जा रहे हैं तो यहां भी किसके लिए कहते हैं ये जो सृष्टि में तात्पर्य क्या सृष्टि बात क्या कहना चाहते हैं वाचारम्भ न्याय लगाना चाहते हैं जिससे जो बनता है उससे अतिरिक्त तो होता नहीं कार्य नाम के कोई वस्तु नहीं होता है सृष्टि के पहले एक आत्मा ही है बाद में सृष्टि होती है तो आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं ये वाचारमण न्याय होगा वाचारमण विकारो नामधेय मृतिका इतव सत्यम सामने बन दिया हुआ है तो वातावरण जो युक्ति है कार्य जो रहता है केवल नाम प्राप्त करता है वस्तु मिलता नहीं है जिसको हम घट बोलते हैं नाम मिल गया उसको घट नाम मिला हुआ है किंतु वस्तु नहीं मिलेगा घट मिलेगा नहीं मिट्टी हटाएंगे तो कुछ नहीं वहां मिट्टी ही शेष है जिसको पट बोलते हैं धागा निकालने पर कुछ नहीं केवल नाम प्राप्त करता है वस्तु नहीं होता है तो ये और न्याय लगा करके आत्मातिरिक्त से विकार विकारत्व आत्मा से अतिरिक्त जो होगा वो विकार में आ जाए क्यों सृष्टि के पूर्व में एक ही आत्मा ही है बाद में सृष्टि होनी है तो वही आत्मा से होना है तो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होगा ये सिद्ध होगा मृषा तुम भक्तुम इसलिए विकार जो होता है झूठा ही होता है मृषा होता है मिथ्या होता है सिद्ध करना है कार्य को मिथ्या सिद्ध करना तात्पर्य है इसलिए सृष्टि वाक्य यहां बतलाना चाहेंगे पूर्व में तत्र उसमें फिर सृष्टुर आत्मना संभावितम चेतनत्म दृढ़ीकर्तुम लिखण कहते हैं सृष्टि वाक्य जब आएगा तो सृष्टि करने वाला चेतन होगा कि जड़ होगा सृष्टि के पूर्व में आत्मा है बाद में सृष्टि होनी है अभी सृष्टि वाक्य आएंगे यहाँ आत्मा वही इदम एक अग्रे आशित इत्यादि वाक्य हो गया है ये जगत पूर्व में नहीं था आत्मरूप था अब जगत होना है तो जगत बनाने वाला चेतन होगा कि जड़ होगा अभी आत्मा जड़ है कि चेतन है पता नहीं है तो कहते हैं तत्र आदि तत्र सृष्टुर आत्मा जो सृष्टिकर्ता आत्मा ही होगा क्यों सृष्टि के पूर्व में आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं तो सृष्टिकर्ता आत्मा ही बनेगा सृष्टुर आत्मा संभावितम चेतन संभावित चेतन है क्यों कई लोग नहीं मानते चेतन जड़ से सृष्टि मानते हैं सांख्या इसलिए संभावना बता रहे बता रहे हैं संभावितम चेतन दृढ़ी कर तो वही चेतन तो चेतनता को दृढ़ करना है जो संभावित चेतनता है क्योंकि संभावित इसलिए दे रहे सांख्यादि नहीं मानता आत्मा को सृष्टि करता प्रधान को मानता है इसलिए संभावित संभावना है उसके दृढ़ करने के लिए ईक्षण वाक्य है क्योंकि जो सृष्टि के पहले जो ईक्षण कर रहा है विचार कर रहा है वो चेतन ही होगा जड़ ईक्षण नहीं कर सकता इसके मतलब वो जो सृष्टिकर्ता जो होगा चेतन आत्मा होगा ये सिद्ध करता इसलिए सांख्य मत का खंडन होगा ये कहना चाह रहे हैं संभावितम छे की टिप्पणी में कहा सांख्या विधि जड़ से आप सृष्टित्व हुआ सांख्यादि उन्होंने ये माना हुआ है जड़ के द्वारा सृष्टित्व माना है मान सृष्टिकर्ता जड़ को माना है प्रधान जड़ है हाँ, सृष्टिकर्ता माना उनको निश्चितम इति लोकतम इसलिए निश्चितम नहीं कहा संभावितम शब्द बता दिया अभी निश्चय नहीं हुआ है जड़ है कि चेतन सृष्टि के आदि में जो आत्मा वही मगर आशित हो जड़ है कि चेतन निश्चित नहीं हो पाए क्यों सांध्यादि जड़ को मानते हैं सृष्टि का कारण सृष्टि के आदि में ऐसा मानते हैं इसलिए संभावित हम कहा आगे कहते हैं स सर्वज्ञ भाषण में कहा स ईक्षत लोकानुसृजयी मंत्र मंत्र शेष भाग है स मने सर्वज्ञ स्वाभाव्यात आत्मा तो सर्वज्ञ स्वभाव वाला आत्मा है क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि शब्दों से कहा था आत्मा को ऐसा जो आत्मा है सर्वज्ञ स्वभाव्या सर्वज्ञ स्वभाव होने से आत्मा स आत्मा स से आत्मा लेना वो आत्मा ने क्या किया एक एवं सम एक वो अकेला ही था आत्मा अनेक नहीं थी सृष्टि के पूर्व में आत्मा वही इधम एकदम एवं अग्रे आशित इत्यादि इत्यादि वाक्य हमने पढ़ लिया है हाँ, आत्मा एक एवं सम एक ही होता हुआ इक्षत शिक्षण किया कहते हैं लोकानुसृजय इति ऐसा है लोगों की सृष्टि करो ऐसा विचार किया या आता है आपका शंका होती है मनु प्राग उत्पत्तिर अकार्यकरणत्वाद प्रथम ईक्षणवान ईक्षण करने के लिए शरीर चाहिए इंद्रिय चाहिए विचार करना है शरीर में इंद्रिया बैठेगी जब तो शरीर विशिष्ट अवस्था में इंद्रिया होगी तो इंद्रिया विशिष्ट व्यक्ति होगा वही विचार कर सकता है अभी आत्मा का शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है कुछ भी नहीं कैसे उसने निषेध किया ये शंका है विचार कोई भी विचार करने के लिए मान चेतन विचार तो करेगा किंतु शरीर से अतिरिक्त अवस्था में विचार नहीं कर सकता जब शरीर में इंद्रियां बैठी हुई हो अपने गोलकों में इंद्रियां हो तभी विचार कर पाएगा चेतन तो आत्मा चेतन होने पर भी विचार इक्षण कैसे कर सकता उस काल में आत्मा में निर्वय है सजातीय स्वगत विजातीय तीनों भेद से रहित है उसके बाद कुछ भी नहीं अकेला है वो तो कैसे विचार करेगा इच्छा कैसे करेगा शंका है ननो प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पूर्व काल में कार्यकरण कारण अकार्य उसके बाद शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है कार्यम शरीरम कर्म इंद्रियम कार्यक्रम कुछ भी नहीं उसके पास आत्मा के पास सृष्टि के बाद तो कार्यक्रम आ जाएंगे विचार कर सकता है किंतु पूर्व में विचार कैसे करेगा कथम इक्षण उस आत्मा ने इक्षण कैसे किया यह शंका है तो उत्तर देते हैं नायक दोषा इसमें कोई दोष नहीं है क्यों तो सर्वज्ञ स्वभाव क्या वो सर्वज्ञ स्वभाव है उसका हाँ, सबको जानता है तो विचार को भी जानता है क्या होना आगे उसको जानता है सर्वज्ञ स्वभाव है सर्वज्ञ स्वभाव है तथा तो मंत्र बना श्वेता सूत्र परिषद में ऐसे कहा आत्मा को अपाणी पादो जबनो ग्रहिता हाथ पैर नहीं है पैर नहीं है दौड़ता है और हाथ नहीं है पकड़ता है पश्चात्य चक्षुर सश्रुत करना आंख नहीं ये देखता है आत्मा ऐसा होता है देखो यहीं पर चक्षुषा चक्षु करके केनो परिसर में कहा है उतर प्राण से प्राण इत्यादि ठीक है तो ये जो ये से हम बाहर के विषयों को जानते हैं बाहर के विषयों को देखने के साधन है ये घट है पट है मठ है जिसकी आंख सही है दृक शक्ति सही है जानता है तो आंख सही है कि नहीं कौन जानता है आत्मा जानता है तो चक्षु का चक्षु है आंख को देखने वाला है आप तो बाहर के विषयों को देखती है किंतु आत्मा आंख को देखता है इस अवस्था में आपको हम बोले आप अंधे हैं मानने को तैयार नहीं आप आप कहेंगे मेरी आंख ठीक है तो आपको मालूम है आंख यदि किसी अंधे आदमी को बोले तुम देखते हो वो भी मानने को तैयार नहीं नहीं मेरी आंख खराब है तो ऐसे उसके हाथ पैर आदि की कोई कारण की आवश्यकता नहीं है बिना करण का एक क्षण कर सकता है चेता शुद्ध परिस्थित स्पष्ट कहा अपाणी पारो जबनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षु सक्षुणत्य करना कान नहीं है उसके पास जो सुनता है वो कान का भी कान है श्रोत्र से श्रोत्रम ऐसे किरण परिषद आया है कान बहरा है या सही है हमें मालूम पड़ता है कि कान तो बाहर के शब्द सुनने के लिए है तो ये सही है कि नहीं कौन जानता हम जानते हैं आत्मा ऐसा है वो स्रोत्र का स्रोत्र है तो इसलिए यह आत्मा जब कान को देख सुन रहा है तो इसके लिए कान की जरूरत नहीं है कान हो तो बाहर सुनने के लिए होता है आत्मा को आवश्यकता नहीं पश्चात चक्षु सश्रमत्य करना सव्यक्ति व्यक्तम न तस्यास्त व्यक्ता जितने भी जानने योग्य वस्तु है सबको वही जानता है और उसको जानने वाला कोई भी नहीं है उस आत्मा को कोई जान नहीं सकता वृद्धारण को तो साफ बता दिया विज्ञात विज्ञातारम के भी जान दिया सबको जानने वाले के किस किससे जानोगे किसी साधन से जानोगे साधन ये इंद्रिया हमारे पास मन बुद्धि आदि चक्षुरादि किंतु सबको जानने वाला बुद्धि सही है कि नहीं आत्मा जानता है मन सही है कि नहीं आत्मा जानता है चक्षु आदि सही है कि नहीं आत्मा जानता है तो सबके विज्ञाता वो है उसको किस साधन से जानोगे तुम नहीं जान सकते ऐसी स्थिति है तो अपाणी पादों करके कहा उसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है शरीर इंद्रिया की आवश्यकता नहीं है उसको जानने के लिए हाँ जब जीवात्मा बन जाता है इससे प्रवेश होगा तब इस सबकी जरूरत पड़ेगी एकम एवं सीमान विदार्य प्राप्त शब्द आ जाएगा जब इसी की सीमा को विदारण कर मुद्दा को विदारण कर भीतर आया उसके बाद में वो भूल गया संसारी बन गया फिर चाहिए कार्यक्रम सब सब चाहिए उसको फिलहाल तो नहीं चाहिए ये कहा उत्तर देंगे ये अपाणी जब अनुग्रहिता इत्यादि है इत्यादि बोल दिया आगे कहते केनाभिप्रायण शिक्षण कहते विचार क्यों किया आत्मा ने केनाभिप्राय जो तो इक्षत सही इक्षत कहा उसने ईक्षण किया तो किस अभिप्राय से उसने ईक्षण किया आत्मा ने उस काल में क्या अभिप्राय है केनाभिप्रायण ईक्षण यह शंका होगी तो उत्तर दिया आह लोकान लोगों की सृष्टि करने का अभिप्राय था लोकान क्यों प्राणियों के कर्म का फल भोगाना है उसके लिए उनका पहले लोक चाहिए उस उस लोक चाहिए कोई जलचर होंगे कोई थलचर होंगे कोई नवचर होंगे सबके लिए पहले वो आश्रय चाहिए उसके बाद शरीर होगा लोकान लोकान अंब प्रवृत्ति प्राणी कर्म फल उपभोग उपभोग स्थान अंब मरीची मरा आप चार लोग दिखाएंगे यहां एक को अंब शब्द से बोले अंब शब्द से एक को मरीजी शब्द से बोलेंगे और एक को मरा शब्द से बोलेंगे एक को आप शब्द से बोलेंगे किंतु चौदह भुवन पूरा आ जाएगा ये चार लोगों की सृष्टि करना उसने चार माने चौदह भुवन पूरा है पूरा ब्रह्मांड है इसमें ये दिखाएंगे ये क्यों लोगों की सृष्टि करने की इच्छा क्यों कर रहा परमात्मा कहते हैं प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूत उपभोग भोग स्थान भूतान प्राणियों के कर्म के फल भोगने के स्थान है ये यहीं बैठ करके प्राणी भोग करेंगे जो प्राणी होंगे जो पूर्वजों में कर्म करके बैठे हुए प्राणी हैं उनको देना है फल देने के लिए पहले स्थान चाहिए पहले शरीर देने से पहले स्थान देना पड़ेगा तो इसके ही उद्देश्य है उद्देश्य यही है सृष्टि का प्राणी कर्म फल प्राणी कर्म फल भोग भोग स्थान भूतान जो प्राणी के कर्म फल के भोग के स्थान स्वरूप लोग हैं जहां बैठ करके प्राणी कर्म कर पाएंगे तो फल भोग पाएंगे ऐसे लोगों को सृष्टि करता है नो भीतर करते हैं सृजयी माने सृजयी का अर्थ लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है किंतु अब लोट लकार होता है आदेश आदि अर्थों में विधि निमंत्रण मंत्रण दृष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग लोट चाह आदेश आदि में अपने लिए स्वयं आदेश दे नहीं सकता लोट का प्रयोग होता है आदेश मांगने के लिए करता है दूसरे से मैं ऐसा काम करूं हम करवाणी ऐसा बोलेगा बड़े लोगों से आदेश मांग मांगता है ये तो हो जाएगा उत्तम किंतु यहां उससे बड़ा कोई है नहीं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं इस काल में तो सृष्टि के आदि काल में है आत्मा तो वो किससे वो मांगेगा आदेश दूसरा व्यक्ति नहीं है तो अपने आप को लिए आदेश देना संभव नहीं है तो इसलिए भाष्यकार में सृजय का अर्थ सृजे लट लकार का अर्थ करते हैं सृष्टि करता हूं ऐसा ईक्षण किया सृजय का अर्थ सृजय करना पड़ेगा ये कह रहे हैं सृजय माने सृजय अहम मैं सृष्टि करता हूं इति ईक्षितवान आगे इति है आगे ईक्षित पद लगा देना इति ईक्षित इसलिए ईक्षण किया ऐसा अर्थ करना ये कहा टीका से देखें टीका में कहते हैं ननु एक अखंड से कथम इक्षण जो एक आत्मा है सृष्टि के पूर्व में उसके पास कोई साधन नहीं है और कोई देखने वाला विषय भी नहीं है और देखने के मैंने विचार करने का साधन भी नहीं मन आदि कुछ भी नहीं उसके पास वो अकेला है कोई सृष्ट हुए ही नहीं न मन है इंद्रिया भी नहीं है विषय भी नहीं है किसका ईक्षण करेगा किससे ईक्षण करेगा विचार कैसे करेगा साधन चाहिए विषय चाहिए विषय भी नहीं है साधन भी नहीं है ये शंका है मानो एक अखंड से उसका में अकेला अखंड आत्मा है एकम एव नान्य किंचन मिश्र बोल दिया है एक ही है स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं वहां अकेला है उस निर्वय है ऐसी स्थिति में तो कैसे इच्छा होगा कैसे वो विचार कर सकता है उस काल में शंका है दोनों एक अखंड से आत्मा ना जो एक, एक अखंड आत्मा उसका प्रथम इच्छा साधना भाव आप एक क्षण के लिए साधन नहीं है इंद्रिया नहीं उसके पास विचार करने के लिए मन आदि नहीं है और विषय भी नहीं किसका ईक्षण करेगा वो विषय हो साधन हो तब तो ईक्षण करेगा तो कैसे हो सकता है साधना बाबत इतिहास ऐसी शंका की पूर्वादि है सिद्धांत कहते हैं उसके लिए साधन की जरूरत नहीं तो इंद्रियों की जरूरत नहीं ईक्षण करने के लिए आत्मा के लिए न तस्य साधनापेक्षा तस्य आत्मा अपेक्षा ना उसके लिए साधन की अपेक्षा नहीं है क्यों यदि अप्रत्य ऐसा स्वीकार कर कहते हैं एक असन अभी सर्व के स्वभाव दीक्षित एक ही होता हुआ भी वो सर्व के स्वभाव है इसलिए ईक्षित इति उत्तम ईक्षित पद कहा कहते अत्र आक आगम अभाव छांदस लंगलकार का रूप है ईक्षत धातु है तो अईक्षत होना चाहिए जैसे छांदो में तदैक्षत है ऐक्षत पर यहां भी ऐसे होना था तो कहते हैं यहां पर कहते हैं अत्र आठ आगम अभाव छांदस प्रयोग है आठ का आगम कर दिया आगम का अभाव कर दिया अच्छा। इमम अभिप्राय शंका परिहाराभ्याम स्पष्टी करोगी कहते हैं इसी जो अभिप्राय है इसी अभिप्राय को शंका उत्तर के द्वारा ये करते हैं स्पष्टीकरण करते हैं कैसे ईक्षण कर सकता है नहीं ये उत्तर देंगे प्रश्न होगा और उत्तर होगा ये इसी को कहना चाहते हैं ननु करके शंका उठाई ननु प्राग उत्पत्तिर अकार्य कर्मत्वाद कथम इक्षितवान ये भाष्य में शंका उठाई सृष्टि के पूर्व में उसके पास शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं कैसे विचार करेगा वो किसका विचार करेगा कैसे विचार करेगा ये कहा तो नायम दोषा बोल दिया सिद्धांत क्यों सर्वज्ञ स्वभाव है सर्वज्ञ स्वभाव है ये उत्तर दिया यहां टीका में देखते हैं तत्र करणानी इंद्रियाणी कार्यम शरीरम इति विवेक ये कहते हैं देखो ये जो अकार्य करणत्वाद का अर्थ करते हैं उसमें क्या लेना है करणानी इंद्रियाणी कर्ण शब्द भाष्य में दिया है वो इंद्रियों के लिए कहा और कार्य शब्द शरीर के लिए शरीर इंद्रिया नहीं है उस काल में कैसे क्षण करेगा पूर्वाधिक शंका हो गई उत्तर देते हैं तद रहित सार्वज्ञ श्रुति महा कार्यक्रम न होने पर भी शरीर इंद्रिया न होने पर भी सर्वज्ञ है वो श्रुति बोलती है कौन चेतासूत्र श्रुति बोलती है ये कह रहे हैं श्रुति देते हैं तथा च श्रुति दिया तथा च मंत्र वर्णा का श्वेताशूत्र परिषद है अपाणिपाद जब गृहिता टीका में पूरा श्रुति दे देंगे अपादो जबनो अपाणिर ग्रहिता ही अन्वय अपाणिपादो एक साथ है न विद्यते पाणीपादम ऐसे से अपाणिपाद इसी प्रकार है तो यहां क्या करना अन्वय ऐसा करना अपादो जवना जुगत धातु से जवना बनता है न विद्यते पादो यश्य स अपाद जिसमें कोई पैर न हो उसको अपाद बोला जाएगा जैसे अपुत्र होता है वैसे अपाद भौगरी समास है नये मान मतलब तत्पुरुष नया नहीं है बहुगरी नया है अपुत्र जैसा है न विद्यते पादो यश्य स अपाद और अपाद है किंतु जवन है दौड़ने वाला है वो गतौ धातु से जवन मन लू लूट प्रत्यय कर दिया पैर नहीं है दौड़ता है ऐसा है और अपाणी या आपाणी नहीं है ये दो खंडाकार नहीं चाहिए गलत है यहां तो कुरूर हो रहा था ऐसा वर्ण का थोड़ी होगा है अपाणिर ग्रहिता न विद्यते पाणी पाणी ऐसे सा अपाणी जिसका हाथ नहीं है किंतु ग्रहण करता है सबको पकड़ता है ऐसा कहा सूर्य अपाणित गृहिता ग्रहिता है ये अन्वय करना कहा आगे श्रुति शेष है पश्यति अचक्षु कर कर्ण है कहा है अचक्षु सन न विद्यते चक्षु ऋष्य से अचक्षु कोई चक्षु नहीं उसका आंख नहीं किंतु देखता है केन पद में चक्षु सा चक्षु कहा है उदा तो वाचो वाचम प्राण से प्राण प्राण इत्यादि बोला हुआ है श्रोत्र से श्रोत्र और अकर्णासन श्रोती न विद्यते कर्ण जैसे वैसे बहुरी करना सर्वत्र कान नहीं सुनता है वो सबका सुनता है ये कान आदि जो भी होते हैं जीवात्मा के होते हैं परमात्मा में है ही नहीं उस काल में है ही नहीं ऐसा होता है और आगे कहा सब व्यक्ति व्यक्तम व्यक्तम जो व्यक्ति वस्तु जानने योग्य जो वस्तु है संसार में वही जानता है सबको कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है कौन क्या कर रहा है सब क्या नहीं कर रहा है सब वो जानता है आत्मा सबको पता सब आत्मा को पता आत्मा तो यही बैठा हुआ है जो भी कर्म करेगा आत्मा को तो पता होगा ही होगा आत्मा से कोई छिपा नहीं सकता वैसे भी कहा है कोई भी कर्म करते हैं कई साक्षी होते हैं आदित्य चंद्रा बनिरो नलश्च जो भूमि रापो मनसस यमश्च अहस्त रात्रि च उभे च संदेह धर्मो ही जाना ही नरस्थ ये प्राणी का जो आचरण है क्या करता है अच्छा बुरा क्या करता है ये सब जानने वाले होते हैं आदित्य दिन में आदित्य को पता होता है आदित्य दूर में भी किरण तो यहां आया हुआ है ये प्रकाश हुआ है आदित्य है और रात्रि में चंद्रमा को पता होता है चंद्रमा कहीं भी किरण तो होगा सर्वत्र व्याप्त होगा आदित्य संग्राह अनिलो नलश्चर अनिल वाले होता है वायु और अनल माने अग्नि अग्नि वायु देवभूमि रात पृथ्वी जल आकाश और भूमि और रात पंचभूत हो गए आदित्य और चंद्रमा हो गए देवभूमि रात देवभूमि रात हो मनसस यमश्च मन भी साथ है यमराज भी है यम को भी पता है क्या करता है चित्रगुप्त मन में लिखते हैं वो अहस्त रात्रि जो हुए संध्या आप कभी काम करोगे या दिन में करोगे या रात्रि करोगे अच्छा बुरा जो भी करोगे या दो संध्या है प्रातः संध्या सायं संध्या उसमें करोगे यही तो और तो कहीं जा नहीं सकते आप अहस्त रात्रि उभे संधे धर्मो ही जाना जाना कि नरस्त प्रथम और धर्म भी समझता है क्या काम किया इसमें मनुष्य जो वृत्ति को समझता है ऐसा कहा हुआ है तो यहां भी कहते हैं आत्मा सब जानता है न तस्य कार्यम कर्म कितना सव्यक्ति व्यक्तिम क्योंकि आत्मा सबके भीतर बैठा है किसी भी इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य करोगे आत्मा को तो पता होता है दूसरे को पता ना हो अपने को तो पता होता है ना मैं ये काम कर रहा हूं अच्छा बुरा कोई भी कर रहे हो दूसरे को आप बताएंगे नहीं ठीक है किंतु स्वयं को तो मालूम होता ही है आत्मा को सब पता होता है कहां छिपेंगे आत्मा से कैसे छिपेंगे आत्मा स्वयं आप हो जो काम करने वाले तो कैसे छिपना है सव्यक्ति वेद्यम जितने वेद्य पदार्थ है वही आत्मा जानता है सव्यक्ति वेद्यम न तो तस्या वेदता उसको जानने वाला कोई भी नहीं कोई वस्तु उसको नहीं जान सकता क्यों तो सब उसी का वेद्य में आते हैं ज्ञ में आते हैं सारा उसको जानने वाला कोई भी नहीं न तो तस्यास्ति वेदता तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम उसको अग्र पुरुष कहते हैं अग्रे भगम अग्रम सबसे पहला वाला पुरुष कहते हैं उसको महान बोलते हैं उसको शास्त्रकार ऐसा बोलते हैं ऐसा कहते हैं कहा यह मंत्र से ऐसा ही होता है और भी है इत्यादि दिया हुआ है <coughs> आदि से लेना है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्या वेदिक दृश्यते पराश्य शक्ति विग्रह श्रीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चाहिए आदि शब्दार्थ भाष्य में जो आदि शब्द दिया ये भी श्वेता पंचम के मंत्र है ये भी उसके आत्मा के बारे में ऐसे कहा न तस् कार्यम करणम च विद्यते तस्य आत्मा ना उस आत्मा का शरीर इंद्रिया नहीं है कार्यम शरीरम करणम इंद्रिया नहीं है न तस् कार्यम करणम च विद्यते तस्य आत्मा उस आत्मा का शरीर इंद्रिया नहीं न तत् समस्या व्यतिकस्त दृष्टि उसके समान भी कोई नहीं है उसके बड़ा भी कोई नहीं है सब आत्मा से नीचे ऐसा है सृष्टि के पूर्व में वही है यहां भी आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है आत्मा है तो ये चल रहे हैं न तत् समस्या व्यतिग्रस्त दृश्य थे उसके आत्मा के समान भी कोई नहीं आत्मा से बड़ा भी कोई नहीं पराश्य शक्ति विधेय स्मृति इसके एक पराशक्ति है माया उसके कारण सब कुछ कर लेता है विपक्षवाद माया से होता है पराश्य शक्ति अश्य शक्ति परा अपने कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है वो जगत की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है परा मान श्रेष्ठ उस माया के कार्य की अपेक्षा पर है श्रेष्ठ है मनस परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा महत परम अव्यक्तम पर अव्यक्तम पर कहा है कार्य के अपेक्षा पर होता है अव्यक्ता पुरुषा पर परिषद में धारा चलाई है अश्य शक्ति परा इस आत्मा की जो शक्ति माया शक्ति है अविद्या शक्ति है पराशक्ति है श्रेष्ठ है उसके कार्य के पुरुष श्रेष्ठ है परा विविध ही थे नाना प्रकार की शक्ति सुनाई पड़ती है एक ही नहीं वो तो कार्यान्वय कौन से कार्य घटा दे कोई पता नहीं वो माया अनेक शक्ति जब कार्य करते ऐसा शक्ति भी था ऐसी शक्ति भी थी ऐसा अनुमान से सिद्ध होना है श्रूयते ऐसा शक्ति सुनाई पड़ती है या ऐतिह्य मात्र है देखा किसी ने भी नहीं इसलिए श्रूयते पद है प्रत्यक्ष नहीं होना अनुमेय है ऐसी है ऐसा श्रूयते कहा स्वाभाविकी वो शक्ति स्वाभाविकी है माने किसी से उत्पन्न नहीं है स्वाभाविक ही शक्ति है स्वाभाविकी तो माया शक्ति और ज्ञान बल क्रियाचार और दूसरी बात वो शक्ति में ज्ञान के बल से क्रिया भी निरंतर सृष्टि क्रिया आदि सृष्टि स्थिति लय क्रिया भी वो भी स्वाभाविक ही है होती रहती है ज्ञान बल का अर्थ ज्ञान माने परमात्मा चेतन चेतन के सामिध्य रूप बल है उसके पास इसीलिए वो क्रिया करती है ज्ञान माने सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म परमात्मा का नाम ज्ञान जो ज्ञान के ज्ञान रूप जो बल मिला है परमात्मा का सान्निध्य मिला हुआ उसको मिलने के कारण से क्रिया करती हो ऐसा मैंने सृष्टि इत्यादि कर सकती है ऐसे उसके बारे में बोला है कहा सात और आठ की टिप्पणी सात में कहते हैं पराशय अश्य ईश्वर से अश्य मैंने ईश्वर से ईश्वर ईश्वर की शक्ति है माया स्वकार्य अपेक्षा है परा माने माया के जो कार्य जगत है उसकी अपेक्षा पर है श्रेष्ठ है परा विचित्र कार्य कार्यकारित्व विविधा वो नाना विविधा ही श्रूयते तो विविधा है अनेक प्रकार की कार्य कर देती वो अघटित घटना पटी ऐसी जो असंभव है संभव है रज्जु में सांप होना संभव नहीं है किंतु सर्प बना के दिखा देती है हमारे लिए हम डर के मारे भागते हैं सुक्ति के टुकड़े में रजत होना संभव नहीं असंभव कार्य है जंतु बना के दिखा देते हैं हम कई बार लालच में गए दौड़ कर गए लेने के लिए प्रवृत्ति मृत्यु के कारण बना दिया है स्थिति है ये कहते हैं विविधा ही वस्तुते का अर्थ कर रहे हैं <clears throat> पराश शक्ति विविधा ही सूर्यते माने विचित्र कार्य कार्यवाद विविधा विविधा का अर्थ किया नाना प्रकार के कार्य कार्य कार्य करने वाली है वो इसलिए विविधा ही कहा सुविधा साच ऐतिह्य मात्र सिद्धा माया के बारे में किसी ने देखा नहीं है जैसे भूत ये पेड़ में भूत है कि ऋषि ने कहा आपको ये पेड़ में भूत रहता है आप पूछते हैं आपने देखा बोला वो बोलता मैं देखा नहीं अमुक व्यक्ति ने कहा एक व्यक्ति नाम देता है उसके पास आप जाएंगे आपने उस पेड़ में भूत देखा वो कहता अमुक ने कहा था एक व्यक्ति का नाम देता है ऐसे चलता रहता है परंपरा चलेगी देखा किसी ने पता ही नहीं है उसके आदि पुरुष कौन है मालूम ही नहीं पड़ता ऐसे को ऐतिह्य बोलते हैं माया भी ऐसी है प्रत्यक्ष कोई कर नहीं पाया है वो ऐति है कहा इसलिए यहां साच है मात्र सिद्धा न प्रमाण सिद्धा प्रमाण से सिद्ध नहीं है प्रमाण से तो गायब हो जाती वो ऐति है वो सुनाई पड़ती है जब तक प्रमाण वेदांत का प्रमाण नहीं आएगा तब तक उसका पसारा चलता है वेदांत का प्रमाण आए तो गायब हो जाती है आपका प्रमाण न प्रमाणित आई थी श्रूयते पद इसलिए दिया है पराश शक्ति विधैव श्रूयते ये ऐतिह्य मात्रा है अच्छा। आगे स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया तो वो माया शक्ति स्वाभाविक ही है उसके जो ज्ञान बल के द्वारा होने वाली क्रिया है सृष्टि आदि क्रिया वो भी स्वाभाविक है कहते हैं उस माया शक्ति से होने वाली क्रिया भी स्वाभाविक है ज्ञान बल के कारण होने वाली क्रिया तो ज्ञान बल का अर्थ करते हैं ज्ञान रूपेण बलेना या सृष्टि क्रिया ज्ञान का अर्थ करेंगे परमात्मा परमात्मा का सान्निध्य रूप बल है जब तक तो परमात्मा का सान्निध्य नहीं मिलेगा जड़ कुछ नहीं कर सकता चेतन के सान्निध्य मिलने पर ही जड़ काम करेगा तो यहाँ ज्ञान का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अन्यत्र कहा है ऐतर परिषद आदि में ज्ञान शब्द चेतन आत्मा उसके सान्निध्य को बल कहा उस बल के द्वारा होने वाली परमात्मा के सामिध्य प्राप्त होने पर उसके द्वारा होने वाली सृष्टि भी स्वाभाविक है एक अर्थ ज्ञान रूपे बले न या सृष्टि क्रिया ज्ञान रूप बल के द्वारा जो सृष्टि क्रिया सा सृष्टि क्रिया स्वाभाविकी स्वाभाविकी माने अनादि मायात्मकत्व सृष्टि अनादि है माया अनादि है तो सृष्टि भी अनादिकाल से चल रही है कभी अभाव नहीं हुआ सृष्टि का चल रही है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक सृष्टि चल रही है दूसरी व्याख्या करते हैं ज्ञान से चैतन्य से बलम ज्ञान से बलम ज्ञान बलम ज्ञान बल में ष्ठी समास कर लेना ज्ञान बल क्रिया मंत्र में है उसका अर्थ ज्ञान ज्ञान से बलम ज्ञान बलम ष्ठी समास करना ज्ञान से माने चैतन्य से तो चैतन्य का बल है क्या बल होता है चैतन्य का मायावृत्ति प्रतिबिंबित होना स्फुटत्व वो चैतन्य जो प्रकाशित हो जाना मायावृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाना बल है वो वही उसका सान्निध्य मिला हुआ है माया को तो चेतन का माया में प्रतिबिंबित हो जाना बल मिल गया उसको चेतन का सान्निध्य प्राप्त हो गया यही कहते हैं ज्ञान से माने चैतन्य से ज्ञान शब्द का चैतन्य तो चेतन है उसका बलम बल माने क्या है माया वृत्ति प्रतिबिंबित माया वृत्ति में प्रतिबिंबित रूप से जो तो स्पष्टीकरण होना चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाना यही है ज्ञान बल तस् क्रिया नाम वो ज्ञान बल का क्रिया क्या होगा फिर क्रिया नाम बिंबत्व ब्रह्मणे जनकता वो बिंब बनेगा शुद्ध बनेगा वहां माया में प्रतिबिंबित तो होगा ज्ञान बल बनेगा वो माया में जो सान्निध्य दे रहा है प्रतिबिंबित होकर के बिंब हो जाएगा वो हाँ। क्रिया नाम क्या है बिंबत्व ब्रह्मणो जनकता ब्रह्म में जनक जनकता जो धर्म आ रहा है ब्रह्म पैदा कर रहा है उसको प्रतिबिंब माया में प्रतिबिंबित होने जा रहा है तो उसके जो क्रिया आ गई प्रतिबिंब होने के लिए वो है यहाँ पर ज्ञान बल क्रिया कहा यात्रिता भी स्वाभाविक ही वो भी स्वाभाविक है अथवा बात दो अर्थ कर दिया पहले वाले में नहीं ज्ञान रूपेण ना ज्ञान और बल में कर्म कार्य करना है ज्ञान रूप बल के द्वारा सृष्टि होना ज्ञान माने परमात्मा परमात्मा को सान्निध्य बल मिला सृष्टि करना ये होता उसका स्वाभाविक है ज्ञान बल क्रिया भी स्वाभाविक अच्छा है में आगे बोलते हैं ननु स्वाभाविक नित्य चैतन्य न कथम कादाचित क्षण स्वाभाविक नित्य चैतन चेतन हमेशा है क्षण हमेशा नहीं सृष्टि के पूर्व काल में ईक्षण कर रहा हो हमेशा नहीं कर रहा क्षण अगर चैतन में क्षण होता हो नित्य चेतन है तो नित्य क्षण होना चाहिए कादाचित क्षण कभी कभी होने वाला क्षण कैसे अग्नि में कभी जलना कभी नहीं जलना ऐसा तो नहीं होता है हमेशा उष्णता ही रहती है उसमें तो यदि ईक्षण शक्ति है तो हमेशा ईक्षण होना चाहिए चेतन जब नित्य है तो काराचित में कभी कभी होने वाला ईक्षण कैसे होगा सृष्टि के पूर्व काल में ईक्षण किया वाक्य आया है कैसे घटेगा ये शंका है ननु स्वाभाविक नित्य चैतन्य स्वाभाविक नित्य चैतन्य है स्वाभाविक है वो उसमें कथम कादाचित विषण कादाचित विषण कैसे होगा चैतन्य तो हमेशा है तो चैतन्य ईक्षण कभी कभी कैसे होगा तो इसके उत्तर देते हैं कुछ लोग यहाँ दो तीन अर्थ करेंगे ईक्षण कैसा माना जाता है क्या ईक्षण है यहाँ वो परमात्मा ने ईक्षण किया मैंने क्या ईक्षण होता है अत्र के कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं स्वर्गादो प्राणी कर्म फिर एका सृज्याकारा अविद्यावृत्ति उत्पत्ति सृष्टि के आदि काल में परमात्मा में एक अविद्याकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है क्यों प्राणियों के कर्म है पूर्व कर्म है वो तो प्राणियों के कर्म के कर्म के कारण एक सृज्याकारा अविद्यावृत्ति उत्पन्न थे परमात्मा में एक अविद्यावृत्ति उत्पन्न हो जाती है सृष्टि के पूर्व काल में प्राणियों का कर्म है आगे सृष्टि होना है उनको फल देने के लिए इसलिए अविद्याकार एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है परमात्मा में उत्पत्ति थे तश्याम वो जो वृत्ति जो उत्पन्न हो गई या अविद्याकार वृत्ति उत्पन्न हो गई उस वृत्ति में तश्याम आत्मा चैतन्य प्रतिबिंब थे आत्मा का आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है उस अविद्यावृत्ति में मैंने प्राणियों के कर्म से आगे कर, उनका फल देना है इसलिए सृष्टि के पूर्व काल में एक अविद्यावृत्ति बन गई उस अविद्यावृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा प्रतिबिंब पड़ेगा प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होने चैतन्य तस्य आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित तदेव इच्छा वही इच्छा है और कुछ नहीं है माने अविद्यावृत्ति में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ जाना वही मारे अविद्या के अविद्यावृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से अविद्या को बल मिल जाएगा चेतन का सानिध्य मिला चेतन का सानिध्य सृष्टि कर सकती है वो आगे तो यही प्रतिबिंब पढ़ना ही ईक्षण है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कहा तदेव ईक्षण तच्च आदि कार्य स्वपर निर्वाह जो ईक्षण होगा तो ईक्षण परमात्मा कर रहा है तो ईक्षण करने के लिए फिर उसके ईक्षण कहां से आएगा कार्य का तो ईक्षण करेगा परमात्मा ईक्षण भी तो एक कार्य है ना तो उसके लिए ईक्षण कौन करेगा ये प्रश्न उठेगा ईक्षण के लिए भी तो ईक्षण चाहिए मैं ईक्षण करूं तो पहला ईक्षण कौन करेगा जैसे अभी कार्य उत्पन्न होना है उसके पूर्व में ईक्षण के लिए करता है तो ईक्षण भी एक कार्य है तो उसके लिए ईक्षण कौन करता है प्रश्न है प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं तत्व आदि कार्य वो प्रथम कार्य है ईक्षण सृष्टि के पूर्व काल में है प्रथम कार्य है तत्व आदि कार्यवाद स्वपर निर्वाह कम स्वयं को भी और पर का भी निर्वाह करता है वहां के लिए दूसरे ईक्षण की आवश्यकता नहीं है स्वपर कम न तत्र अपेक्षा इसलिए वहां भी अन्य इक्षण की अपेक्षा नहीं करना जो कार्य है इक्षण भी कार्य है तो कार्य के लिए पहले जैसे इस कार्य के लिए इक्षण करना है तो इक्षण के कार्य होने से उस इक्षण का फिर पहले इक्षण कौन करेगा प्रश्न आएगा नहीं वो स्वयं अपना भी निर्वाहन करेगा आगे का भी निर्वाहन करेगा आदि कार्य सर्वे प्रथम कार्य अनवस्था परिहाराय एवं यस्तव्य विद्या सभी ने ये सभी को ये स्वीकार करना होगा सर्वई एवं यस्तव्य सभी जितने भी वादी हैं सबको प्रथम कार्य में अनवस्था दोष निवारण के लिए अगर प्रथम कार्य के लिए भी कोई क्षण होगा उसके लिए कोई कारण ढूंढेंगे क्षण तो फिर पहले वो कार्य होगा फिर उसके होगा अनवस्था दोष आ जाएगा तो सभी वादियों को यही मानना होगा प्रथम कार्य में स्वपर निर्भाग स्वयं होता है उसके लिए पहले वाला कोई ईक्षण की आवश्यकता नहीं होती है ये कहा सर्वैरपी हम ही ने वेदांति ने सभी वादियों को यही मानना होगा सर्वैरपी प्रथम कार्य अनवस्था परिहार आया अनवस्था के परिहार के लिए एवं यष्टव्यम इसी प्रकार मानना पड़ेगा इत्याहु कुछ लोग ऐसा कहते हैं कहा टिप्पणियां हैं नौ दस की नौ में कहते हैं स्वपर निर्वाहन कहा वो प्रथम कार्य होने से अपना भी निर्वहन करेगा आगे का भी निर्वाहन करेगा अपना इक्षण भी वही करेगा आगे का क्षण वही करेगा उसके लिए कोई अन्य इक्षण की आवश्यकता नहीं ये कहा तो कैसे होता है तो कहते हैं स्व विषय के सती स्वातिरिक्त स्त्रीज विषय का विद्यार्थ वो ऐसा अपने को विषय करेगा उस इच्छा में अपना भी विषय करेगा और अपने से अतिरिक्त विषय को विषय करेगा प्रथम इच्छा ऐसा होता है माने स्वयं विषय भी वही है वहां अपना विषय अपने को विषय बनाएगा दूसरे को विषय बनाएगा प्रथम वाला यही होगा एक सर्वैरपी सभी को मानना पड़ेगा इस बात को आदि कार्य में फिर उसके लिए कारण नहीं ढूंढना होगा अन्यथा उत्पत्तिर उत्पत्त्यंतरम अपेक्ष एक भाव इसलिए मैं तो उत्पत्ति का भी उत्पत्ति प्रथम उत्पत्ति यदि फिर भी उत्पत्ति हाँ, इत्यादि दोष आएगा सभी के लिए मानना पड़ेगा ये हो ये कहा और ये तो हो गया एक पक्ष का करना माने प्राणियों के कर्म के कारण जो एक सृष्टि के पूर्व काल में अविद्या एक अविद्यावृत्ति बन जाती है वो वृत्ति में प्रतिफलित जो चेतन होगा वो चेतन उसमें प्रतिबिंबित होना ही वही ईक्षण है ये एक बारी का मत है ईक्षण का अर्थ यह है दूसरे कहते हैं अपरे तू टीका मेरा दूसरे लोग क्या कहते हैं प्राणी कर्म अवसाद सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूपावच्छिन्नम सत स्वरूप चैतन्यम एवं औन्मुख्य कादाचित कादाचित कादाचितम इक्षम इत्यादि तो अन्य लोग ऐसा मानते हैं अपर लोग ये मानते हैं प्राणी कर्म के बस से प्राणी कर्म किया हुआ है फल देना है उसको आगे फल लेने के लिए तैयार है प्राणी प्राणी कर्म साथ सृष्टि काल है जो सृष्टि का प्रसंग आ गया उस काल में अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूपम भविष्य मान अंकुरित अवस्था में हो जो चेतना भी अभिव्यक्ति के उन्मुखी भूत अंकुरित अवस्था में है सृष्टि के पूर्व स्थिति में है वो माने अभिव्यक्ति के लिए उन्मुख है माने नाम रूप प्राप्त करने के लिए तैयारी अवस्था में है जगत ऐसा अभिव्यक्ति के उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्नम सत्य स्वरूप जो तो अनभिव्यक्त नाम रूप से आच्छादित जो चेतन होगा विशिष्ट जो चेतन है अनिव्यक्त नाम रूप से आच्छादित है अभिव्यक्ति के तैयारी में है ऐसा जो चेतन होगा वही चैतन्य का ही औन्मुख्य कादाचित्वा तो उसी चेतन को ही यहां पर ईक्षण कहा जाता है क्यों ये जो ईक्षण कादाचित होने से चेतन को भी ऐसा बोल दिया ईक्षण शब्द से बोल दिया है कहा ईक्षण से कादाचित का कादाचित कम ईक्षण क्या ईक्षण क्रिया कादाचित होने से कादा चेतन को कादाचित ईक्षण कर्ता बांध दिया वो नित्य है किंतु फिर भी ईक्षण क्रिया कभी कभी होने के कारण से चेतन को भी कभी कभी कभी का ईक्षण का कर्ता मान लिया ये दूसरे लोग ने कहा अन्य तू करके टीका में कहते अन्य लोग हैं तीसरे लोग कहते हैं तो ईक्षण वाक्य से कारण से अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वात ईक्षण तात्पर्य भावाच न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य अन्य लोग बोलते हैं भाई ईक्षण वाक्य का तात्पर्य है कारण से अचैतन्य व्यावृत्ति करना तात्पर्य जो कारण है जगत का कारण है अचेतन नहीं है बस इतने तात्पर्य ईक्षण का है ईक्षण करने का मतलब सृष्टि के पूर्व में विचार किया है तो चेतन है वो अचेतन नहीं है हाँ। अन्य लोग सांख्य आदि अचेतन को कारण मानते वो खंडन करने के लिए कहा या ईक्षण कहा ये बोलना चाह रहे हैं अन्य लोग यही मानते हैं ईक्षण वाक्य का तात्पर्य क्या है कारण से अचेत अचैतन्य व्यावृत्ति परत्व माने जड़ का व्यावृत्ति के लिए यहाँ ईक्षण शब्द दिया है तदैक्षण ईक्षण कहा है ईक्षण वो तात्पर्य भाव ईक्षण में कोई तात्पर्य नहीं है ईक्षण पाठ है कि ईक्षण पाठ है हाँ गलत शब्द है ईक्षण तात्पर्य अच्छा सप्तनंद है क्षण में तात्पर्य नहीं वो तो माने जड़ पदार्थ नहीं है कहने के लिए कृष्ण शब्द दिया है व्यावृत्ति करना उसको मान सांख्या जी जैसे मान, मानते हैं प्रधान को उसको व्यावृत्ति करने के लिए कहा है ईक्षण शब्द दिया न तत्र भूयान आग्रह इसलिए यहां पर ईक्षण में या विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए वो तो एक चेतन है कहने में तात्पर्य कहा ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए ये कहा इति आपो अन्य लोग ऐसा कहते हैं नु शब्दो वितर्कार्थ इति मनसी निधाय आह नू सर्व तर्क के लिए है वितर्क है इसको मन में रख करके कहा शब्द से मुंह का कोई अर्थ नहीं बताया मन में वितर्क अर्थ है करके भाष्यकार ने मन में रख लिया नू शब्द का अर्थ नहीं किया भाष्यकार ने मन में ही रख लिया वो बात मुंह का अर्थ वितर्क है नु शब्दों वितर्कार्थ इति मनसी निधाय भाष्यकार अपने मन में रख रहे हैं उस बात को जब भाष्य में कुछ नहीं लिखा नू करके छोड़ दिया वो तो मंत्र का ही नू है वही नू लिख दिया उत्तर गाय आह उसको हृदय में रख करके कहा नू करके बोल दिया सृजयी मैंने सृजय अहम इत्यादि इस सृजयी के स्थान में भाष्यकार ने सृजय लट लकार का प्रयोग क्यों किया सृजयी लोट है तो लट का उत्तम पुरुष एक वचन भाष्यकार ले रहे हैं सृजय का सृजय बोलते हैं क्यों टिक्काकार बोलते हैं लोडर्थ से विद्यादे लोट लोट लकार का अर्थ होता है विधि आदि विधि न मंत्रवा मंत्रवा दृष्ट संप्रसुर प्राप्त हो सात अर्थ छह अर्थ होते हैं और आशीर्वाद एक होता है सात अर्थ होता है लोट का तो लोड अर्थ से विद्यादय लोट का आदि लोट का अर्थ जो विधि आदि है विधि माने आदेश विधि का अर्थ आदेश होता है आदेश आदि जो होते हैं स्वात्मनी असंभवात अपने को आदेश देना बनता नहीं है अपने से प्रार्थना करना भी बनता नहीं है अपने को निमंत्रण देना भी बनता नहीं अपने को आमंत्रण देना भी नहीं बनता जो अर्थ आना चाहिए उसका धातु का और प्रश्न भी अपने में नहीं बनता ये करना कि वो करना प्रश्न भी नहीं होता प्रार्थना भी नहीं है आशीर्वाद भी अपने को देगा नहीं तो ये सातों अर्थ घटता नहीं तो लोट का अर्थ या घटेगा नहीं क्यों सृष्टि के आदि में अकेला है वो दूसरा कोई है ही नहीं हाँ लोट का अर्थ घटाते हैं अपने से बड़ों से आशीर्वाद मांगता है उस काल में लोट का अर्थ घटा ऐसा काम करूं आदेश मांगता है प्रश्न करता है वहां तो घटेगा यहां तो दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं अकेला है तो लोट कैसे होगा ये शंका है लोडर्थ से विद्यादे स्वात्मा ने असंभवाद अपने आप अपने आप में संभव नहीं है लोट का अर्थ घटाना अपने से दूसरे में घटाया जाता है तुम ऐसा करो ये करो वो करो ऐसा बोला जाता है इसलिए लोटो लडर्थत्तम आहार लोट लकार का अर्थ लट का अर्थ लेते हैं सृजय का अर्थ सृजय सृष्टि करता हूं ऐसा ये विचार किया ये बताया आगे कहते हैं अहम इति अश्य इक्षत इति पूर्व अन्वय कहते हैं जो सृजे अहम इति है अहम इति के आगे इक्षत पद पूर्व में है उसके साथ अन्वय कर रहा सृजे अहम इति इक्षत ऐसा जोड़ना कहा इक्षत के साथ इक्षा संबंध करना ये इति के आगे इक्षत पद ला करके संबंध कर देना बोला टीकाकार ऐसा बोला अच्छा आगे तो मंत्र है सईमान लोकान अस्त्रिजत अम्बो मरीचिर मरमापो अदोम्ब परेण दिवम यौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय पृथ्वी परो यादस्ता आप स इमान् लोकान् अस्त्रिजत अम्बो मरीचिर्मरमापो अदो अम्ब परेण दिवम यौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरो या अदस्तात्ता आप अध्यारोप शुरू कर दिया तो परमात्मा एक ही था उसने चार लोग की सृष्टि की करके हम बोल रहे हैं चार शब्द देंगे क्योंकि चौदह भुवन पूरा आ जाएगा इसमें स ईमान लोकान सिद्ध उस परमात्मा ने जो सृष्टि के पूर्व में अकेला है साधन कुछ भी नहीं है हाँ, उनने लो, इन लोगों की सृष्टि की ऐसा माने परिणाम में साधन चाहिए मिट्टी से घट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए कुमार को किंतु रज्जु में सर्प बनाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है परमात्मा या विवर्तवाद के माध्यम से सृष्टि करता है जो विवर्त होता है वस्तु नहीं होता यह स्थिति है अतात्विक सृष्टि अन्यथाभाव दोनों में होता है परिणामवाद में भी होता है विवर्तवाद भी होता है किंतु भेद इतना है यश तात्विको यथाभाव परिणाम उदीरिता जो वास्तविक तात्विक अन्य पदार्थ अन्य बन जाता हो उसको परिणाम कहते हैं जैसे दूध का दही बनता है तो दोबारा दूध नहीं बनेगा सात्विक अन्यथा अन्यथा अन्य हो जाना वो होता है परिणाम अतात्विको यथाभाव सविवर्त उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव वास्तविक नहीं है वस्तु ज्यों का त्यों है रज्जु ज्यों का त्यों है किंतु सर्व रूप में दिखा सर्व वास्तविक अन्यथा नहीं हुआ इसको कहते हैं विवर्तन या विभक्त सृष्टि सिद्ध होती है क्यों सृष्टि के पूर्व में अकेला है कोई साधन नहीं है मटेरियल भी नहीं है करने के साधन भी नहीं है अकेला है तो लोगों की सृष्टि की जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है उस ढंग का है विवर्त है तो विवर्त में वस्तु नहीं होता इसलिए सृष्टि होने पर भी कुछ नहीं है वो वही है रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे जलधारा करो सर्प कल्पना व्यक्ति अलग अलग कल्पना करेंगे कोई जलधारा बोलेगा कोई भूषिका बोलेगा उसको कोई बाला बोलेगा कोई लाठी बोलेगा किंतु तो? है रस्सी ही है वो बाकी कुछ नहीं थे तो कहते हैं स ईमान लोकान असृजत उस परमात्मा ने इन लोगों की सृष्टि की कौन है वो लोग लोग का नाम दे देते हैं अम्बस एक अम्ब है एक मरीची है अम्ब मरीची एक मरा है और एक आप है मरम आप है ये चार लोग बता दिया एक अंब नाम का लोग है अंबस नाम का लोग है एक मरीचीर नाम मरीची नाम का लोक है और एक मरम नाम का लोक है और एक आप नाम का लोग आप नाम का लोक है ये चार लोग की सृष्टि है स्वयं श्रुति अर्थ करती है ये शब्द क्या है अंबा माने क्या है मरीची माने क्या है मरम माने क्या है आप माने क्या है स्वयं श्रुति अर्थ कर अदो अंध परेण दिवम अद माने वह अदस शब्द वह दूर में है अदसस्त विप्रकृष्ट अदो अंब वो जो दूर में है वो है वो अम्बस वो, वो लोक है अंब लोक परेण दिवम दिवलोक से जो परे है स्वर्ग से जो ऊपर है कौन है जाना महा तपस्या जो परे दिवलोक से ऊपर के लोग हैं ये चार हैं जो इसको अंबस शब्द से कहा और दिवलोक भी है साथ में उच्चारण का आश्रय दिवलोक भी है स्वर्ग भी है ये परेण दीपम में देखो परेण आपको तृतीया जैसा लगता होगा तृतीयांत नहीं है एनप प्रत्यय लगा हुआ है एनप अन्य तरसाम अधूरे व्याकरण सूत्र है पर शब्द से एनप करके परेण बनाया हुआ है माने या पर अर्थ है इसका ये स्वार्थ में एनप प्रत्यय है द्यूलोक से जो पर है और यहाँ दिव दिव दिवम परेण दिवलोक से परे करने के लिए चाहिए था यहाँ ये दिवा हाँ बोलना था किंतु बोल दिया दिवम द्वितीयांत बोल रहे हैं तो व्याकरण के दृष्टि में गलत लग रहा होगा आपको और परेणा का अर्थ पर यह तृतीयांत अर्थ नहीं है माने स्वार्थ में एन प्रत्यय हुआ है पर शब्द से दिवलोक से जो पर है ऊपर है उसको कहा अंब शब्द से कहा और दिवम में द्वितीय कैसे फिर पंचमी होनी चाहिए पर कहने के लिए तो कहते हैं वहां एनपा द्वितीय व्याकरण में सूत्र है एनप के योग में द्वितीय विभक्ति होती है ये एनप प्रत्यय लगा हुआ है परिणाम में इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति दिखाई पंचमी अर्थ आएगा इसका एनपा द्वितीय व्याकरण में सूत्र है <clears throat> तो दिवलोक से जो परे हैं अर्थ पे आएगा दिवलोक से परे लोग को अंबस लोग कहा अंबस देव प्रतिष्ठा उन लोगों की तो प्रतिष्ठा है आश्रय है दिवलोक है द्यूलोक से परे जो लोग हैं माने जाना तप महासत्य चार लोग हैं ऊपर द्यूलोक से ऊपर पर वाले लोग जाना तप सत्य मह जाना मह तप सत्य चार लोग हैं द्यूलोक पांचवा है द्यूलोक उसमें प्रतिष्ठा है वो भी उसी में जाएगा पांच लोग हो जाएंगे अंब सब से द्यूलोक सहित लेना है और अंतरिक्षम मरीचय ये जो अंतरिक्ष लोग है घूर भूवा जो बोलते हैं भूवर लोग जो बोलते हैं द्यूलोक के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो खोखलापना जो है अंतरिक्ष इसको मरीची शब्द से कहा अंतरिक्ष भी एक लोग है यहाँ भी निवासी है पक्षी आदि ऐसे हैं जो आसमान में ही अंडा देते हैं आसमान में पलते हैं आसमान में मरते हैं नवचर है प्राणी जलचर नवचर थलचर ऐसा मानते हैं तो नवचर भी है उनको धरती आदि की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्राणी है तो वो अंतरिक्ष लोग रहेंगे जो वहां रहते हैं मैंने भूलोक से ऊपर है देवलोक से दिवलोक से नीचे है तो ये छठा लोक हो गया पांच लोग ऊपर स्व मह जन तप सत्य ये तो अंबा शब्द से लिया जाएगा और मरीज शब्द से अंतरिक्ष लिया जाएगा और मर माने पृथ्वी या जो भी होते हैं मरने वाले होते हैं ब्रियंते अश्विन इति मरा अश्याम इति मरा ये पृथ्वी को मरा कहा यहाँ सब मर जाते हैं कोई भी ये पृथ्वी में जो होंगे सब मरने वाले होते हैं इसलिए मर कहा है तो इससे मर से लेना पृथ्वी लोग ठीक है और आप से लेना जल बाहुल्य वाले जितने होंगे पृथ्वी के नीचे अतल बीतल सुतल रसा रसातल महातल पातल सात लोग हैं वो आ जाएंगे आप शब्द के द्वारा जल जल बाहुल्य होने से आप बोल दिया उसको नीचे के लोगों में जल बाहुल्य है तो माने चौदह भुवन की सृष्टि की अर्थ आता है चार शब्द से बोला है अम्ब मरीचि मर आप चार शब्द बोला है किंतु चौदह भुवन किंतु सृष्टि करते समय ध्यान देना है एक नहीं बनाया अन्यत्र का विरोध नहीं पहले तन्मात्रा सृष्टि की पंचभूत तन्मात्रा अपंचीकृत पंचभूत की सृष्टि की उसके बाद उसको पंचीकरण किया पंचीकरण करने के बाद में एक पिंड ब्रह्मांड बनाया ब्रह्मांड बनने के बाद में उसमें लोक की भिन्न भिन्न तले की कल्पना की यह है लोक सृष्टि मैंने इसके पहले इतनी सृष्टि हो चुकी है समझना एकाएक लोक की सृष्टि नहीं हुई है मैंने घर बनाने के लिए पहले जमीन चाहिए मटेरियल चाहिए जमीन के लिए सब पहले चाहिए तो पहले पंचभूतों की तन्मात्रा जो बोलते हैं और पंचीकृत पंचभूतों की सृष्टि है उसके बाद उसको पंचीकरण किया पंचीकरण करने के बाद मिलाया कम ज्यादा भाग मिला के मिलाया पंचीकरण किया पंचकर्म होने के बाद में ये ब्रह्मांड की सृष्टि की ब्रह्मांड बनने के बाद में फिर एक एक मंजिल का व्याख्या बनाएंगे या ये जो अंबा मरीजी मरा मापक करके ये चौदह भुवन की सृष्टि है ये ब्रह्मांड बनने की बाद की सृष्टि है परमात्मा ने जो दो तीन काम पहले किया है पहले अपंचीकृत पंचमहाभूतों की सृष्टि की जो व्यवहार में काम नहीं आते हो उसके पश्चात उसको मिलाया पंजीकरण किया उसके बाद में ब्रह्मांड बनाया ब्रह्मांड बनने के बाद में इन लोगों से ये तो ब्रह्मांड बनने के बाद बनना है मकान बनने के बाद इतने तला उतना तला तभी चलेगा ना मकान होगा तभी तले का गिनती करेंगे मारे चौदह तला वाला मकान है सारा एक संसार ऐसा बोलते हैं इसके नीचे सात है ये सही इसके ऊपर सात है सात मंजिल बेस्टमेंट है इसका ऐसा है इसका स्वरूप अतल द्वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल बेसमेंट तक है नीचे है इसके नीचे ऐसा ताकि बाकी ये सहित ऊपर साथ है भूर भूव स्व महाजाना तप सत्य ऐसा है तो चौदह भूमि की सृष्टि की अर्थ होता है या अधस्तात ता अमरा ता आप का जो नीचे हैं अधस्तात माने यहां अधस्तात माने कोई पंचमी नहीं है हाँ। यहां पर अधर शब्द को अधस आदेश हुआ है अस्ताति प्रत्यय दिशावाचक शब्द है हाँ, दिख शब्द सप्तमी पृथ्वी सप्तमी पंचमी प्रथम आव्य द्विदेश का आदेश अस्ताति सूत्र है स्वार्थ में होता है प्रत्यय प्रथमा है ये अधस्ता नीचे नीचे का लोग होगा अधर शब्द से अस्ताति किया है और अधर को अधस आदेश किया है ये प्रथमांत है ये समझ आ कि ये पंचमंत है अव्यय है तर्कितांत अव्यय है ये अव्यय हो जाता है नीचे वाला लोग था आप जो नीचे है वो आप है उन लोगों ने ना आप करके रख दिया जो आप बोला था उसका नाम कहिए आप ये बताया अच्छा ठीक है देखिए ईक्षण से पूर्वकालीन तुम बदम सृष्टि हेतु महा हेतुत्व महा ईक्षण पूर्वकालिक है क्योंकि सृष्टि के पूर्व में कोई भी कुछ काम करना हो तो पहले विचार करता है नक्शा बनाता है कहा क्या बनाना क्या करना क्या करना कैसा करना एक नक्शा बनाता है तो परमात्मा ने एक नक्शा बनाए विचार किया इतने बड़े ब्रह्मांड बनाना है असंख्य प्राणी है उनके लिए भिन्न भिन्न भोजन आदि की व्यवस्था है कैसे भोजन देना है सबको एक जैसा भोजन नहीं रहने का स्थान भिन्न भिन्न प्रकार के सबके सब विचार किया खूब विचार करके बनाया ये कहना चाहते हैं एक क्षण से पूर्वकालीन तुम एक क्षण पूर्वकाली हो पूर्वकालिक होता है बाद में सृष्टि होती है पहले विचार होगा बाद में घर बनाएगा व्यक्ति एक क्षण से पूर्वकालिक तुम बदन पूर्वकालिक कथन करते हुए सृष्टि हेतु तुम आना एक क्षण जो है सृष्टि का कारण है ये बताना चाहते हैं एवं एवं इक्षित इस प्रकार से ईक्षण करके उस परमात्मा है सईक्षित पद पूर्व में था लोगों की सृष्टि करने का विचार से ईक्षण किया एवं ईक्षित्वा मैंने आलोच्य विचार करके या देखा नहीं बना ही नहीं क्या देखना है विचार किया विचार करके स आत्मा व आत्मा स बने आत्मा ईमान लोकान अश्रिता अश्रिष्टवान उस आत्मा ने इन लोगों की सृष्टि की कौन है लोग यथा जैसे यथा यह बुद्धिमान तक्षादि जैसे यहां पर देखो एक कारपेंटर होता है तक्ष तक्ष कहते कारपेंटर को तक्षादि अथवा और कोई हो जो बुद्धिमान होगा क्या बनाना है पहले बुद्धि में रखेगा ऐसा ऐसा नक्शा बनाएगा बुद्धि में ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करके इसको तैयार करूंगा पहले बुद्धि में नक्शा बना लेता है बाद में बाहर में निकाल देता बना देता है सामग्री बना देता है उसी प्रकार यहां निकाल यथा यह जैसे श्लोक में बुद्धिमान तक्ष आदि जो कारपेंटर आदि जो होंगे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जो या क्या करते हैं वो एवं प्रकारान प्रसाद आदि सृजे पहले विचार करता है मैं इस प्रकार का मकान आदि को बनाऊंगा इधर दरवाजा होगा इधर खिड़की होगी इधर ये होगा पहले बुद्धि में बना लेता है वो इस प्रकार की लकड़ी डालूंगा पहले से बना लेता हो सब कुछ करके पहले ठीक ठाक करके एवं प्रकारान प्रसाद आदि सृजे ऐसा विचार करता है इस प्रकार के मकान आदि मैं तैयार करूंगा ऐसा सृष्टि विचार करके दीक्षित ऐसे मन में विचार करके तो अनंतर उसके प्रसाद प्रसाद आदि सृजते प्रसाद आदि नहीं आदि फिर मकान आदि को सृष्टि करता है बनाता है पहले भीतर बना लेता है बाद में बाहर बनाता है वो भीतर बनाने का नाम शिक्षण है विचार है हम एक मकान के नक्शा भी बनाते हैं तो कागज में बाद में बाद में लिखते हैं बाहर में किंतु तो पहले बुद्धि में जो बनेगा वही कागज में लिखते हैं पहले भीतर बनाते हैं ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा पहले बुद्धि में नक्शा बनाते हैं वैसे परमात्मा में भी ब्रह्मांड की नक्शा बनाई ऐसा ऐसा होगा ऐसा ऐसा करके बनाऊंगा उनके लिए खाद्य पदार्थ बनाऊंगा रहने का स्थान बनाऊंगा ये सब विचार किया तद्वत उसी प्रकार परमात्मा ने भी विचार करके सृष्टि की जाते हैं ठीक है हम कहते हैं अत्र इक्षण पूर्वक सृष्टि उगते हैं या पहले इक्षण बताया सही इक्षण कहा उसके बाद सही मान लो का अस्त्रित नहीं वाक्य आया तो इसलिए ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताया कहने से प्रयोजन क्या है कहते हैं सृष्टु चेतन तो सिद्ध ये एक प्रयोजन है ईक्षण पूर्वक सृष्टि करने का मतलब सांख्य मत के ऊपर प्रहार करना था यहां सांख्यवादी बिना ईक्षण के सृष्टि मानते हैं माने प्रधान में ईक्षण होना नहीं विचार नहीं होना है सृष्टि करती बोलते करता है बोलते हैं उसको तो यही कहना चाहते हैं अत्र इस उपनिषद में ईक्षण पूर्वक सृष्टि उठते प्रयोजन या ईक्षण पूर्वक सृष्टि के कथन में जो प्रयोजन है सृष्टि कथन का क्या प्रयोजन है सृष्टु चेतनत्व सिद्धि सृष्टा जो होगा चेतन है सिद्ध करें क्यों चेतन ही विचार कर सकता है जड़ नहीं कर सकता यही है चेतन सिद्धि एवं इति अभिप्रेत ऐसे मन में रख करके तथा विदस्य तक्षादेश चेतन तो उसी प्रकार के तक्षादि का उदाहरण दे जैसे कारपेंटर होगा चेतन होता है वो वो पहले नक्शा बना लेता है अपने बुद्धि को उसके बाद मकान बना देता है इसी प्रकार यहां कहा इसलिए इसे चेतन का ही दृष्टांत दिया भाष्यकार टिप्पणी एक नंबर की सृष्टु चेतन सिद्धि साच सांख्यादि पक्ष प्रतिक्षेपार्थ हाँ, उस चेतन पूर्वी का सृष्टि क्यों कहा कि सांख्य मत के खंडन करने के लिए अचेतन से सृष्टि मानते हैं वो ईक्षण कैसे करेगा विचार कैसे करेगा वो तो जैसे तैसे हो जाएगा फिर पागल की तरह काम हो जाएगा सांख्य मत के खंडन के लिए ये कहा ये बताया समय हो गया है फिर करेंगे ओम बांग में से प्रतिष्ठित मनो में प्रतिष्ठित आदिरावीर्मये यस्य मानिष्ठः श्रुतं नेमा प्रहासीतनेमानीतेनाहोरात्राणि सन्दरामि ऋतं बलिष्यामि सत्यं बलिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तार